नमस्कार मित्रों ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस बेस पे आते थे कि भाई ये 2014 में किसको वोट देना चाहिए या अभी जो दिल्ली में इलेक्शन आ रहे हैं अक्टूबर 2013 में उसमें किसको वोट देना चाहिए वोटिंग का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए तो इसके ऊपर जो मेरा ओपिनियन है तो पहले जो मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि वोट देते समय क्या देखना चाहिए तो देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अच्छे कानून तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि आपके एरिया में जो भी पांच दस पंद्रह कैंडिडेट है उनमें से किन कैंडिडेटों ने अच्छे कानून भारत में लाने के लिए प्रचार किया अब अक्सर यह आएगा कि पंद्रह में से किसी ने नहीं किया क्योंकि अच्छे कानून मतलब मैं जैसे एक कानून है जन लोकपाल तो मैं इसको बुरा कानून बोलता हूँ मतलब Jan Lokpal with right to recall Jan Lokpal अच्छा कानून है पर जो अन्ना ने जन लोकपाल रखा था Jan Lokpal with no right to recall Jan Lokpal वो एक बुरा कानून है वो आता तो मल्टीनेशनल कंपनियों का फायदा हो जाता देश को टेक ओवर करने के लिए तो जो Jan Lokpal with no right to recall Jan Lokpal के प्रचार है उसमें तो माइनस पॉइंट मिलेंगे तो अच्छे कानून का प्रचार किसने किया है तो आप पहले तय तो करो कि आपको कौन सा कानून अच्छा लगता है कौन सा कानून बुरा लगता है तो मैं जो अच्छे कानूनों का लिस्ट देता हूं right to recall jury system wealth tax recruitment by return exam only तो भारत में बस ये राइट टू रिकॉल ग्रुप है मेरा और जो भी उसके दो पांच हजार वॉलेंटियर है बस हम ही लोग राइट टू रिकॉल के कानूनों का और ये सारे कानूनों का प्रचार कर रहे हैं कानून के ड्राफ्ट का राइट टू रिकॉल की बात कहने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे लालू यादव है नीतीश कुमार है मुलायम सिंह यादव है वो भी बहुत राइट टू रिकॉल की बात करते हैं सोमनाथ चटर्जी आप गूगल करो Somnath Chatterjee right to recall तो आपको सोमनाथ चटर्जी हर साल में दो तीन स्टेटमेंट देते थे राइट टू रिकॉल पे पर उन्होंने ड्राफ्ट पार्लियामेंट में लाने के लिए कभी कोई कोशिश नहीं की कोई ड्राफ्ट उन्होंने मीडिया को नहीं दिया उनके वेबसाइट पे नहीं रखा तो अच्छे कानूनों का प्रचार तो बहुत कम लोग कर रहे हैं लेकिन मेरे हिसाब से वही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होना चाहिए जिन लोगों को भारत में अच्छे कानून लाने हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इलेक्शन में आप जिस कैंडिडेट ने अच्छे कानून का प्रचार किया उसके लिए वोट दो या आप सेक्शन 49 ओ का इस्तेमाल करो नन ऑफ द अबाउ कि भाई मुझे किसी को वोट नहीं देना वोटर बूथ में जाओ उनसे बोलो कि भाई मुझे पर्चा दो 49 ओ का वो आपको एक पर्चा देंगे उस पर साइन करो यानी आपका वोट है वो नन ऑफ द अबाउ में जाएगा फिर दूसरा क्राइटेरिया है कि भाई मुझे देश में अच्छा प्रधानमंत्री लाना है तो देश में अच्छा प्रधानमंत्री लाने का मैं जो तरीका सजेस्ट करता हूँ वो ये है मैंने अपने एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजा कि भाई आप पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लाओ कि नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना है और वो रेजोल्यूशन आए तो मैं आपको ऑर्डर करता हूँ कि यस में वोट डालना तो देश में अच्छे प्रधानमंत्री का लाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप अपने एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजो कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है आपको नरेंद्र मोदी ठीक नहीं लगता तो नीतीश कुमार मायावती शिवराज सिंह चौहान जो भी व्यक्ति आपको ठीक लगते हैं उसका नाम दो आप एक से ज्यादा नाम भी दे सकते हो प्रेफरेंशियल वोटिंग से कि dear MP I order you to cast vote as per following one Narendra Modi two Shivraj Singh Chouhan three Mayawati जो भी आपका प्रेफरेंस लिस्ट है और फिर एमपी को जितने एसएमएस से ऑर्डर मिले हैं उस हिसाब से वो वोटिंग करे वो सिस्टम बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है प्रेफरेंशियल वोटिंग बोलते हैं वो सिस्टम के आधार पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो सकती है तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए मान लो मोदी को पीएम बनाना है तो बीजेपी को वोट देना ये कोई जरूरी बात नहीं है आप वोट किसी को भी दो इलेक्शन खत्म हो जाए उसके बाद एमपी को एसएमएस से ऑर्डर करो कि भाई आप पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना और फिर भी यदि ये आपका फैक्टर है कि भाई देश में कानून भाड़ में जाए मुझे सिर्फ देश में एक अच्छा पीएम चाहिए तो जो भी आपको अच्छा पीएम लगता हो उसकी पार्टी को वोट दे दो ये एक दूसरा क्राइटेरिया होगा जिसको मैं मैं नहीं मानता पर बहुत सारे लोगों के लिए एक ही क्राइटेरिया होता है जैसे गुजरात 2000 दिसंबर 2012 में मैं असेंबली का चुनाव लड़ा था मुझे एक परसेंट वोट मिले थे one percent approximately one percent one percent से थोड़े ज़्यादा वन पॉइंट टू परसेंट पर अधिकतर लोगों ने कहा कि भाई हमें अच्छा मुख्यमंत्री चाहिए और अच्छे मुख्यमंत्री में दो ही ऑप्शन है या तो कांग्रेस या तो बीजेपी नरेंद्र मोदी है वो अच्छे हैं या कम बुरे हैं इसलिए मैं बीजेपी को वोट दूंगा मतलब बहुत सारे वोटरों का ये मानना था और ठीक है उन्होंने इसी हिसाब से वोट दिया पर इससे देश में अच्छे कानून लाने का जो प्रयत्न है उसको एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा और वो कमजोर पड़ जाएगा देश में अच्छे कानून लाने का प्रयत्न बहुत कम लोग कर रहे हैं पर उनको यदि वोट नहीं मिला तो उनका प्रयत्न और कमजोर हो जाएगा उनके कार्यकरों में डिसअपॉइंटमेंट बढ़ जाएगा जो लोग प्रचार करें उनमें भी डिसअपॉइंटमेंट बढ़ जाएगा तो फिर आपको तय करना है कि देश में अच्छे कानून लाने की जो लोग प्रयत्न करने हैं उनको आपको मदद करनी है या नहीं वोट देना है या नहीं फिर कुछ और फैक्टर है जो कि एकदम बकवास है कभी-कभी कुछ कहते हैं कि चैरिटी कर रहा है कि ये एम, ये एमपी का कैंडिडेट है उसने अस्पताल खोल दिया इसलिए मैं उसको वोट दूंगा तो ये मेरे ख्याल से बकवास रीजन है भाई अस्पताल खोल के उसने लाख दो लाख मान लो करोड़ का भी खर्चा किया तो एमएलए बनने के बाद वो दस करोड़ कमाएगा तो घाटा आपका होगा वो एक अस्पताल अच्छा चला रहा है लेकिन वो हेल्थ मिनिस्ट्री को सुधारने के लिए कानून पास नहीं होने देगा तो दुनिया भर के अस्पताल है वो गड्ढे में जाएंगे आपके एरिया में और जो सरकारी अस्पताल है वो भी सब गड्ढे में जाएंगे फिर कुछ कहता है ये दूसरा चैरिटी वर्क कर रहा है कि झोपड़पट्टी में 100-200 लड़कों को पढ़ा रहा है या थोड़े बहुत स्कूल खोल दिए जहाँ पे हजार दो हजार लड़कों को पढ़ा है भाई right to record district education officer के कानून के लिए यदि प्रयत्न किया होता तो आज ज़्यादा लोग जा एजुकेशन ज़्यादा बच्चों तक पहुंच जाता तो जो अच्छे कानूनों के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे लेकिन चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे हैं मैं बोलता हूं उनको वोट नहीं देना चाहिए क्योंकि वो चैरिटेबल एक्टिविटी में जितना खर्चा किया उसका 20 गुना वसूल लेंगे इलेक्शन खत्म होने के बाद चुनने के बाद फिर चैरिटेबल एक्टिविटी है वो तो बीजेपी कांग्रेस भी बहुत करती है आरएसएस है उसके बहुत सारे चैरिटेबल एक्टिविटी चलते हैं ये एकल विद्यालय है फिर ये ब्लड बैंक्स है विश्व हिंदू परिषद है वो भी बहुत सारे स्कूल चलाती है कांग्रेस का सेवा दल है वो भी बहुत चैरिटी चलाते हैं इतना पैसा कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं चैरिटी पे खर्चा करेंगे और सबसे ज्यादा चैरिटी करने वाला तो वैसे ये गुंडे बदमाश लोग सबसे ज्यादा चैरिटी करते हैं अहमदाबाद में लतीफ़ नाम का एक क्रिमिनल था तो सबसे ज्यादा चैरिटेबल एक्टिविटी लतीफ़ की चल रही थी और चैरिटेबल एक्टिविटी के आधार पे वो पांच सीट का कॉरपोरेशन का इलेक्शन भी जीत गया वो पांच जगह कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा रहा और वो पांचों में जीत गया जिसका मेन रीजन था कि वो इतने चैरिटेबल एक्टिविटी करता था यहां तक कि उसके जीतने के बाद राज्य सरकार को कानून बनाना पड़ा कि एक आदमी सिर्फ दो ही जगह फॉर्म भर सकता है तो चैरिटेबल एक्टिविटी से लोग जीतते हैं लेकिन चैरिटेबल एक्टिविटी देख के वोट नहीं देना चाहिए ये गलत बात है दूसरा paid media report paid media report है वो सबसे बड़ा खतरनाक है कि आपने पेड मीडिया में पढ़ा कि अरविंद गांधी अच्छे आदमी है उसको वोट दे दिया पेड मीडिया फिर कुछ भी हो सकता है पेड टाइम्स नाउ हो सकता है पेड अर्नब गोस्वामी हो सकता है ये पेड हिंदुस्तान टाइम्स हो सकता है तो बहुत सारे नेताओं को पेड मीडिया ही उभारती है जैसे ये दुरात्मा गांधी थे वो पेड मीडिया नहीं उसको उभारा था अंग्रेज थे उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को पैसा दिया था उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजों का ही अखबार था आज भी वो अंग्रेजों का ही अखबार है सिर्फ नाम का मालिक है समीर जैन बाकी सारा अखबार है वो अंग्रेजों के मतलब अमेरिकनों के पैसे पे ही चलता है उनके इशारों पे ही चलता है तो अंग्रेजों ने टाइम्स ऑफ इंडिया वालों को पैसा दिया था कि मोहन भाई का नाम छापो उनको हर जगह हीरो बनाओ इतना ही नहीं अंग्रेजों ने ये बिरला वगैरह को भी पैसा दिया था कि जो हिंदी अखबार है उस समय के उसमें भी मोहन भाई को खूब बुखारो तो पेड मीडिया की वजह से दुरात्मा गांधी थे वो एक बहुत बड़े नेता बन गए थे आज वही फिनोमिना चल रहा है कि अरविंद गांधी है वो पेड मीडिया की वजह से एक बहुत बड़े एक लड़ाकू नेता मतलब कि बुराई के सामने लड़ने वालों में से नंबर वन वो इमेज जो पेड मीडिया ने उनकी खड़ी की है तो अब पता कैसे लगा है कि ये जो नेता है वो असली है या नकली है सवाल पूछ के अब पेड मीडिया का जर्नलिस्ट है वो उसको सवाल पूछेगा और वो उसका जवाब देगा तो तो 100 में से 100 नंबर आ ही जाएंगे उसके आप उसको सवाल पूछो अपने दिमाग से जो भी सवाल लगता है उसको पूछो और जब वो जवाब देने में गोल गोल गोल गोल बात करेगा घबरा जाएगा तो पता लग जाएगा कि ये सिर्फ पेड मीडिया की उपज है जैसे मैंने कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बोला कि बांग्लादेशियों के बारे में सवाल पूछो कि भाई बांग्लादेशियों को दिल्ली से निकालना चाहिए, पूरे भारत से निकालना चाहिए। तो जब सवाल पूछा, तो अरविंद गांधी ने बांग्लादेशियों को समर्थन दिया, तो उसकी पोल खुल गई कि क्यों बांग्लादेशियों को समर्थन दे रहा है? बांग्लादेशी तो सिर्फ कांग्रेस को वोट देते हैं। कोई तो वोट के लिए बांग्लादेशियों को सपोर्ट नहीं दे रहा, बांग्लादेशी तो कांग्रेस को ही वोट देते हैं। तो क्यों ये बांग्लादेशी को सपोर्ट दे रहा है? क्योंकि उसको सऊदी अरेबिया जिस चैनलों को पैसा दे रहा है एनडीटीवी है हिंदुस्तान टाइम्स है बहुत सारे अखबारों को उसका उसे सपोर्ट चाहिए इसलिए सऊदी अरेबिया वाले चाहते हैं कि बांग्लादेशियों के खिलाफ कुछ मुहिम नहीं होनी चाहिए इसलिए उसने बांग्लादेशियों को दिल्ली से निकालने की भारत के निकालने की बात से मना कर दिया फिर आप उससे सवाल पूछो कि भाई ये जो 16 साल का 17 साल का है मर्डरर मर्डरर रेपिस्ट टॉर्चरर जिसने बुरी तरह से टॉर्चर किया था दिल्ली का जो दिसंबर 16 को बस में जो हादसा हुआ और कोर्ट ने सिर्फ उसको तीन साल की सजा की है तो पूछो कि भाई आप उसके लिए फांसी मांगते हो या नहीं और जब उसने मना किया कि नहीं ये बेचारे सत्रह साल के लड़के को सिर्फ तीन साल की सजा हुई उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो उसकी पोल खुल गई पोल खुल गई किनके सामने क्योंकि पेड मीडिया ने तो इसको कवरेज ही नहीं दिया लेकिन जो दो चार कार्यकर्ताओं ने उससे ये सवाल पूछा था और उन्होंने जवाब देना पड़ा या तो दे दिया उनसे गलती हो गई या जानबूझ के हुई उन्होंने जब कहा कि नहीं ये सत्रह साल के बच्चे को तीन साल से ज़्यादा सजा नहीं होनी चाहिए और जब उन्होंने फांसी की सजा मांगने से मना किया जुएनल जस्टिस एक्ट का में जो अठारह से सोलह साल इफेक्टिव 1 जनवरी 2010 हाँ मतलब ऐसा नहीं कि 16 से 18 आज की तारीख में कर दो तो तो इसको कोई सजा ही नहीं होगी इफेक्टिव 1 जनवरी 2010 तो इस आदमी को फांसी की सजा होगी वो उसने कहने से मना कर दिया फिर जब दूसरा सवाल पूछा एक वॉलेंटियर ने कि भाई देश में जितने भी फ्लैट के मालिक है या लैंड के मालिक है उनके नाम नेट पे डाल देने चाहिए जैसे मेरे पास चार पांच फ्लैट है तो डाल दो मेरा नाम नेट पे मेरे पास मैं बोलता हूँ कि तो मेरे पास इतने इतने फ्लैट है डाल लो मेरा नाम राहुल मेहता और ये फ्लैट इसके नाम है ये फ्लैट इसके नाम है ये फ्लैट मेरे और मेरा 50 परसेंट शेयर है मेरे भाई का 50 परसेंट शेयर है तो डालने तो उसने बोला साफ साफ बोला कि नहीं इस तरह से लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड है वो नेट पे नहीं जाना चाहिए अरविंद गांधी ने मना किया क्यों मना किया क्योंकि इंडिया में जो अर्बन एरिया है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद ओनरशिप मालिकी किसकी होती है चर्चों की और वकफ की मंदिरों का नंबर वन आता है रूरल लैंड में जो रूरल एरिया है उसमें सबसे ज्यादा मंदिरों जमीन मंदिरों के पास है लेकिन अर्बन एरिया में भारत सरकार के बाद दूसरा नंबर आता है वकफ और चर्च का वकफ यानी मुस्लिम ट्रस्ट अब ये सारे ओनरशिप रिकॉर्ड यदि नेट पे आते हैं तो ये बात बिल्कुल खुल के सामने आ जाएगी और ये भी बात खुल के सामने आ जाएगी कि कुछ शरद पवार जैसे लोग हैं जिनके नाम पे 10-10, 20-20 हजार फ्लैट है उन्होंने ट्रस्टों के द्वारा या कंपनियों के द्वारा खरीद रखी है गुजरात में भी बहुत सारे मिनिस्टर जिनके पास 20-20 हजार करोड़ की जमीन है वो सब नेट पे आ जाता तो फिर वेल टैक्स और वो सारी बात आती लेकिन अरविंद गांधी ने जब मना किया कि ओनरशिप रिकॉर्ड नेट पे नहीं आना चाहिए तो जिन कार्यकर्ताओं के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंची उनके सामने ये पोल खुली दूसरा वो जो वादे कर रहे हैं वो वादे सारे फाड़ के फेंक दो सारी पार्टियों का जो मैनिफेस्टो है वो फाड़ के टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके उसको टॉयलेट में जाने दो जो उधारी का सौदा है कि मैं एमपी बनने के बाद ये करूंगा मैं पीएम बनने के बाद मैं ये करूंगा मैं सीएम बनने के बाद मैं ये करूंगा वो उधारी का सौदा हमेशा घाटे का सौदा होता है इतना बता कि अब तक तूने क्या किया यदि तू तू कल ये ये करने वाला है तो वोट भी हम कल ही देंगे तेरे को यानी मैनिफेस्टो है क्यों क्योंकि सारी पार्टियों का ये हिस्ट्री है कि इलेक्शन खत्म होने के बाद वो अपने मैनिफेस्टो को फाड़ के फेंक देते हैं कि ये रद्दी ले जाओ फेंक दो इसको जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप राइट टू रिकॉल के लिए 15 साल से काम कर रहे हो 1998 का ये देखो आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में राइट टू रिकॉल लिखा है क्यों नहीं जुड़ जाते उसमें मैंने कहा भाई जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी राइट टू रिकॉल लिखा था 77 में 70 तब और आज सुब्रमण्यम स्वामी उसी पार्टी के नेता है वो मैनिफेस्टो बोलते हैं कि मेरे पास कॉपी नहीं है दो साल से हमारे कार्यकर्ता उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि 77 का जनता पार्टी का मैनिफेस्टो नेट पे डालो अब तो जनता पार्टी का वेबसाइट भी उन्होंने डिलीट कर दिया वो तो पता नहीं पर उन्होंने नेट पे नहीं डाला और वो मुंह पे झूठ बोलते हैं कि 77 में कोई राइट टू रिकॉल का प्रॉमिस ही नहीं दिया था और 77 में जैसे इलेक्शन खत्म हुए जनता पार्टी के 90 परसेंट एमपी ने बोला कि राइट टू रिकॉल बकवास कानून है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए लालू यादव मुलायम यादव ये सब के सब तो इस तरह से आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में जो लिखा है वो आम आदमी पार्टी इलेक्शन खत्म होते ही उसके कैंडिडेट मैनिफेस्टो को फाड़ के हाँ। फेंक देंगे भूल जाएंगे क्या लिखा है इसलिए मैनिफेस्टो देख के ना कांग्रेस को वोट दो ना बीजेपी पे वोट दो भाई बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम जन्मभूमि का मुद्दा पिछले 20-25 साल से पड़ा है 1989 में उन्होंने राम जन्मभूमि की डिमांड की थी उस पर इलेक्शन लड़े थे दो सीट मिली थी बीजेपी को 1984 में दो सीट से 1986 में बढ़ के 90 सीट हो गई किस मुद्दे पे राम जन्मभूमि के मुद्दे पे उसके बाद वो 80 सीट बढ़ के 150 सीट हो गई 150 से बढ़ के 180 सीट हो गई ये राम जन्मभूमि के मुद्दे पे तीन मुद्दे थे राम जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि काशी विश्वनाथ और जैसे ही वाजपेयी प्रधानमंत्री बने वाजपेयी ने ऑर्डर दिया उनके काडरों को कि आज के बाद यदि किसी ने कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मुद्दा उठाया तो मैं उसको पार्टी से निकाल दूंगा तो बीजेपी के जितने ऑर्गेनाइजेशन थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी उन्होंने पिछले 12-15 साल में काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि का एक भी पैम्पलेट नहीं बांटा और आज हालत यह है कि मैं अहमदाबाद के एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से मिलता हूं और जब मैं उन्हें काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि की बात करता हूं तो वो मोरी वो मुझे देख के बोलते ये कौन सा मुद्दा आप नया मुद्दा क्यों ला रहे हो और इस नए मुद्दे की क्या जरूरत है और तब मुझे उनको बोलना पड़ता है कि ये मुद्दा मैं नया नहीं ला रहा तुम लोग 1988 में लाए थे और तुमने उसको दफना दिया था मैं इस दफनाए मुद्दे को जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूं तो जो वाजपेयी चुन के आए थे अपने मैनिफेस्टो पे वो मैनिफेस्टो के सारे के सारे पॉइंट उन्होंने फाड़ के फेंक दिए जैसे पीएम बने वो यहां तक कि अहमदाबाद का नाम कर्णावती करना था और 1998 में 90 जब 13 दिन की सरकार आई थी 1996 में वाजपेयी की 13 दिन की सरकार आई थी तब वाजपेयी इस कर्णावती के ही सांसद थे अहमदाबाद से ही वो एमपी एमए ये एमपी बने थे अहमदाबाद गांधीनगर गांधीनगर अहमदाबाद एक ही था उस समय अहमदाबाद बहुत बड़ा हो गया था इसलिए गांधीनगर करके कंस्टिट्यूएंसी थी लेकिन गांधीनगर कंस्टिट्यूएंसी हकीकत में 70 परसेंट एरिया उसका अहमदाबाद अर्बन में ही आता है तो खुद वाजपेयी ने अपने मीटिंग में ये प्रॉमिस दिया था कि वो अहमदाबाद का नाम कर्णावती करेंगे लेकिन वो उन्होंने जो प्रपोजल थी वो दबा दी और आर्टिकल 370 वो भी भूल गए कि आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन में से दूर करना है तो सारी पार्टियां कांग्रेस है कम्युनिस्ट पार्टी है बीजेपी है आम आदमी पार्टी है वो अपने मैनिफेस्टो को इंडक्शन के बाद भूल जाती है इसलिए उस उधारे के सौदे में पढ़ो वो क्या वादे कर रहे वो देखो ही नहीं तो मैं अंत में समापन करूंगा कि वोट किस बेसिस पे दे मैं कहूंगा कि ये देखो कि उस कार्यकर्ता ने उस उम्मीदवार ने कौन कौन से अच्छे कानूनों के ड्राफ्ट ड्राफ्ट का प्रचार किया और ड्राफ्ट देखने के बाद तय करो कि यह कानून अच्छा था या नहीं जैसे जन लोकपाल का बहुत ही खराब कानून था Jan Lokpal with no right to recall वो पास हो जाए मल्टीनेशनल कंपनियां दो साल में पूरा भारत टेक ओवर कर लेगी और कानून के संबंध में तुम उसको सवाल पूछो ऐसा नहीं कि वो खुद वो पेड मीडिया वाला उसको सवाल पूछे और वो उसको जवाब दे वो तो पेड मीडिया को पहले से पैसे देके रखे हैं कि इतने सवाल मत पूछना सिर्फ इतनी इतनी बातों पे सवाल पूछना जैसे ये जो आर्नब है उसने कभी आज तक अरविंद गांधी को ये सवाल नहीं पूछा कि उस छठे आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए नहीं दिल्ली वाला क्यों नहीं पूछा भाई आप दुनिया भर के सवाल पूछ रहे हो इंडिया वांट्स टू नो तो इंडिया ये भी जानना चाहते हैं कि उसको फांसी की सजा क्यों नहीं हो रही तो क्यों नहीं पूछा किसी भी कि, किसी को नहीं पूछा उन्होंने आ, ये सवाल फिर इसी तरह से बांग्लादेशियों के ऊपर कभी आपने आर्नब को चिल्लाते हुए देखा है बांग्लादेशियों के मुद्दे पे वो कभी नहीं चिल्लाएगा क्यों क्योंकि सऊदी अरेबिया का पैसा उसके चैनल को मिलता है हिंदुस्तान टाइम्स के किसी पत्रकार ने कभी सऊदी बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाया अकेले दिल्ली में लाख दो लाख बांग्लादेशी है पूरे इंडिया में करोड़ से ऊपर है क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है ये सब सवाल ना पूछने का तो आप खुद तय करो कि आपके नेता को क्या सवाल पूछना है और जब वो सवाल पब्लिक में पूछोगे तब उसकी पोल खुलेगी तो वो सवाल के जवाब से आप वोट दो यदि आपको देश में अच्छे कानून नहीं लाने सिर्फ एक नेता अच्छा चाहिए तो अच्छे नेता में तो है ये मायावती है नरेंद्र मोदी जो भी आपको अच्छा लगे उसको वोट दो पर मैं क्यों उसको सपोर्ट नहीं करता कि वो काम आप इलेक्शन के बाद भी कर सकते हो इलेक्शन खत्म हो जाए उसके बाद आप एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेज दो जैसे मैंने फरवरी में मैंने अपने एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजा था कि भाई पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लाओ कि नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना है और उस रेजोल्यूशन पर हमें वोट डालो मतलब अच्छे पीएम बनाने का काम है वो इलेक्शन के बाद भी हो सकता है और इलेक्शन के टाइम आप पेड मीडिया रिपोर्ट पे मत जाओ कि पेड मीडिया है वो किन किन पार्टियों की तारीफ करेगा क्योंकि पेड मीडिया का धंधा ये है कि जो बिके हुए उम्मीदवार हो उनकी बुरी बुरी तारीफ करना और चैरिटी अस्पताल चलाना और ये सब बकवास है इस पर ज्यादा फोकस मत करो धन्यवाद